करें विचारा निश्चय कुल के उबारा दिल कबल भरन जाई आए पुर कवन भलाई सुन पुर जन बामी मंदोदरी अभिषय फुलानी राशि जोड़ी कर पति पगुलागी

सुनारी निज सचिव बुलाई पठबु कंत बेचाऊ भलाई सब कुल कमल बिपिन दुखदाई तुम शासन आई सुनहु सीता बिन दीने तुम्हार शंभु अज कीने राम बान यही जन सरिस कर्म साचर ठीक जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तब टेक या सुग्रीव को या विलम्ब क्यों किया जाए चलना चाहिए लंका सेना लेकर के तो सुग्रीव ने सब पांडवों की सेना भालुओं की सेना इकट्ठा की और प्रस्थान कर दिया और समुद्र तट पर पहुंच गए समुद्र के किनारे ये सब सेना वहां पहुंच करके उतर गई और पांडव लोग <clears throat> फल इधर उधर खाने लगे <clears throat> अगले के तो बात वहां तक तो भी समुद्र किनारे पर सेना पहुंच गई जनता में क्या हो रहा है अब इधर का हम शुरू करते हैं तो यहाँ से कहते हैं वहाँ निशाचर वहाँ सुसंता उधर जनता में क्या हो रहा है तो वहाँ सब निशाचर लोग जो है भयभीत रहते हैं अब वहाँ यहाँ हनुमान जी वहाँ पर किसी राशि के वर्णन करते हुए श्री राम जी के साथ चलते हैं यहाँ भगवान राम होंगे भागवत स्थान यहाँ और उसके अतिरिक्त सब स्थान वहाँ तो अब दूसरी रात अभी वही समुद्र के किनारे वही हनुमान और जहाँ भगवान श्री राम जी की सेना पड़ी हुई है तो तुलसी रात भी लंका जी तक नहीं घुसे अपने वहीं से भी वहाँ लंका में क्या हो रहा है तो वहाँ लंका में हो रहा है कि निशा सब लोग सब भयभीत रहते हैं सबसे भयभीत रहते हैं कहते हैं जब कोई जा रही गई कभी लंका जब से कभी हनुमान जी जो लंका आवाज लगा गए सब निशा सब चिंतित होंगे ब्राह्मण के रहते हुए हनुमान जी पर कोई बस नहीं चला ये लंका भर की पूरी जनता में देखी है चार लोग जितने के भर में रहने वाले थे लिखा करके सबके मैंने किसी से कोई बात सुनी नहीं है अब इसके लिए कोई ब्रॉडकास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी कोई अखबार छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी कोई और प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी सब नगर भर जब आग लग गई तो सब अपने अपने घर को बिठाने में लगे तो अपने आप सबको पता लग जाए ये सब क्या हुआ तो ये भगवान श्री राम जी का एक दूत आया था हनुमान बस उस समय घर उनका सब सब जगह आग लगा दी और उस बानर को कोई रोक नहीं पाया और कोई लंका को जलने से कोई बचा नहीं पाया तब तो ये समझ गए कि इसमें जो है उसमें बड़ी शक्ति है जिसके बीच में बड़ी शक्ति तो सब लोग अपने अपने घर में विचार करने लगे निज निज ग्रह सब करें विचारा अपने अपने घर में बैठे सब चाहते नगर घर में सब लोग अपने अपने घर में बैठे विचार कर घर में बैठे विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसी बात विचार कर रहे हैं कि अब ये हम लोगों की छर कुशल नहीं है नहीं इस चरित्र तेज उबारा हम सब लंकावासी जितने होंगे अब इन लोगों का उबार नहीं मार मैंने हम सब डूबे मरे अब हम लोग बच नहीं सकते ये सब लोग आपस में विचार कर रहे हैं अपने घर में क्यों विचार कर रहे हैं उनको दौड़ करके जाना चाहिए रावण के दरवाजे पर खड़े होकर के वहां पर कुछ जो है वो टिकटिंग करना चाहिए धरना देना चाहिए इतनी हिम्मत नहीं किसी को जानते हैं कोई इतना जो है अहंकारी है कि हम लोगों को कोई बात सुनने वाला नहीं इसलिए जब सब अंतर की वजह से सब अपने अपने भीतर घर के भीतर जो बैठे हुए वही अपने अपने विचार कर रहे हैं ये सब आपस तो में कहते हैं जहाँ से दूत बल वर्ण में जाइए कि जिसके दूत दूत का बल इतना है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता कहीं कोई आए कोई कमन भलाई कहीं वो उसका स्वामी जब आएगा था हनुमान जी का वो जब नगर में आएगा तब तो कौन सी भलाई होने वाली है वो तो महाशक्ति शादी होगा उसके सामने तो हमारा कोई बल नहीं चलेगा अब देखो साहित्यकार जो है वो जब रचना करते हैं तो उनका भी दृष्टिकोण एक रहता है वो कि आगे की घटनाओं की सूचना इस प्रकार से देते रहते हैं ये कलाकार आपकी काव्य कला जो है वो साहित्यकारों की युक्तियां हैं उनके द्वारा सूचना उन्होंने दी कि आगे क्या होने वाला है ये सभी शासक जिसने मारे गए आध्यात्मिक रूप से देखें तो देखो दो चीजें हैं एक तो परमात्मा परमात्मा का ज्ञान वो तो सर्वोपरि है लेकिन उसके पहले है वैराग्य हनुमान जी ने ये वैराग्य के प्रतीक है अब जैसे किसी व्यक्ति में अगर वैराग्य आ जाए तो ही देश के अंदर की जितनी भी कुछ वृत्तियां हैं काम एक दो भाग सब नष्ट हो जाएंगे तो व्यक्त होकर के देखो अपने मन में क्या समझ को क्या लेना किसी क्या लेना देना है तो इतना प्रकार के सोच लो अब देखो फिर क्रोध आता किसी को फिर कभी लोग मोह लगता है मर जाएगा क्या कहते मैंने ये तो सब अपने भीतर अनुभूत की बातें हैं थोड़ा सा ध्यान देकर जैसे ऐसा होता ही नहीं होता हम्म? अरे भाई ऐसा वैराग्य न लोग हमेशा भी हो जाए इस वैराग्य की कल्पनी कर लोग मान लो हैं हृदय से बिल्कुल विरक्त हम्म? अब देखो कैसा लगता है अपने भीतर देहा देह में प्रवृत्ति जो देह की प्रवृत्ति देहा शक्ति है अटैचमेंट इन बॉडी वो जो है जहाँ पर व्यक्ति को जो है वैराग्य हुआ तो उसमें आग लग गई आसक्ति में आग लग गई होगा जब वैराग्य की इतनी कथा है तो वो वैराग्य के बाद जहाँ परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप निर्विकार अनंत चेतन स्वरूप परमात्मा की प्राप्त हुई फिर वो सब कहा बच सकते इनमें शास्त्रों को चल कुशल करता इसलिए है यदि हम जीवन के जितने भी संताप हैं भय है चिंताएं हैं क्लेश हैं दुख हैं विकार आदि मानसिक हैं अशांतियां हैं उन सबसे बचना चाहते हैं तो बस उपाय है वैराग्य उपाय है परमात्मा का ज्ञान निरंतर परमात्मा का भाव स्मरण शब्द में बना रहे और बाहरी जगत से शरीर आदि से मन बुद्धि से जितने की जितनी भी आसक्तियां हैं उन सबको आग लगाए रहे उन सब में मानसिक रूप से व्यक्त होकर के उनको नजरा भी मोर में रखें आसक्ति में रखें ये समाचार ये सूचना है तो कहते हैं कि जास दूत बल बर में जाई यही आए पुरु कमल भलाई पुरुष ही बना है पुरुष पुरुष को मैंने परम पुरुष परमात्मा है पुरुषोत्तम परमात्मा है पुरुषोत्तम परमात्मा क्यों क्योंकि पूर्व में वास करता है अब वो परमात्मा अगर उस पुर में आ जाए जीव वास कर रहा है अगर परमात्मा शरीर में आ जाए तो फिर यहाँ फिर परमात्मा जी ही महिमा है जिससे तो कहीं न आसक्ति न कहीं क्लेश न कहीं भय चिंता न कहीं जो कोई दुख वो सबका विनाश हो जाए देखो कैसी अद्भुत बातें हैं ऋषियों ने कैसी बात खोज करके निकाली <clears throat> और उन लोगों ने इस प्रकार का जीवन भी दिया और उनकी भी विद्या और अपने ही देश की विद्या अपने ही पूर्वजों की विद्या अगर उसका लाभ हम ही न उठावे हाँ, तो हमसे ज्यादा कृतज्ञ और गीत कौन की हम फिर भी वही आसक्ति वही काम विकास वही भय चिंता वही रोना धोना नहीं रहे ये बहुत दुर्भाग्य की बात इसलिए हर शास्त्र में एक एक लाइन पढ़े जहाँ जहाँ देखेंगे वो तो सब प्रेरणादायी जिस प्रकार से भी देखें अब देखो इधर नगर में ये हुआ अब क्या होता है कि दूतन दूतन समय समय पूरी जन बानी मंदोदरी अभिजय पुलानी मंदोदरी रावण की पत्नी जो है मंदोदरी और हमें पटानी वे जो है वो उसके भी दूत है और वो दूती दूती मन दूत नहीं पुरुष नहीं स्त्रियां हैं तो दूती सन स्त्रियां उसकी दूती है जो नगर में खबर लिए रहती है जहां कहां की खबर लिए रहती रावण के दूत अलग है और मंदोदरी की दूती अलग है वो भी अपनी खबर रखती है तो राजा और रानी जो होते हैं दोनों शासन करते हैं प्राचीन काल में बात ये होती तो दोनों ही जो बने उनके अपने कर्तव्य कर्म होते थे केवल रानी का काम नहीं है तो राजा के साथ सिंहासन के ऊपर जाकर के बैठ कर शोभा के लिए अपने अहंकार के लिए ऐसा नहीं है उसके सिर के ऊपर जिम्मेवारी थी मंदोदरी उसको स्वीकार करती है मंदोदरी की भी दूतियां रखती हैं और वो सब नगर की खबर रखती हैं वो दूतियां वहां की भी खबर रखती हैं कि अब समुद्र के पार बानर सेना आ गई है भगवान राम आ गए हैं ये सब मंगोत्री को बिना रहने के बताए और बिना दूसरे लोगों को बताए मंगोत्री सब खबर रखती है उसको और नगर भर में ये सब लोग घर घर में ये चिंता फैली हुई है वो घरों के भीतर जाने वाली भी स्त्री आई घर में घुस करके वहां सब देखते हैं कि लोग बात क्या बातें कर रहे हैं तो ये टूटने में सबने सुन लिया उनके कि लोग बात कैसे कह रहे हैं कि आप जो है हम सब लोग मारे गए अब बच नहीं सकते डर रहे हैं सकते सब लोग तो लूटने आकर के सब दो दिन समिश्रम परिजन पानी ये जो पुरिजन नगर के जितने लोग थे उनकी जो आपस में बातें कर रहे थे उन्होंने आकर के मंदोदरी को बताया तब मंदोदरी अधिक और पुरानी मंदोदरी को भी ठीक लगा कि नगर के वासी ठीक ही विचार कर रहे हैं उनका कहना ठीक है कि जब जिसका जो दूत आकर के आग लगा गया कोई बचा नहीं पाया तो उसका स्वामी आएगा सारा नगर ध्वंस कर देगा मुसाचरों को तो क्या रावण को तो बचाए बचेगा उनकी सेना को बचाए बचेगा मंदोदरी की ये बात सुनी अब देखो मंदोदरी के यहाँ से चरित्र प्रारंभ होता है अब देखो समानचरित मानस में अनेक स्त्रियों के चरित्र है उनके उनके वर्णन है कि वो किस प्रकार की स्त्रियां हैं जितनी भी साधु स्त्रियां हैं सन्मार्ग पर चलने वाली जितनी स्त्रियां हैं उनमें से मंदोदरी का नाम है यद्य ब्राह्मण जैसे निशाचर की स्त्री है लेकिन ये निशाचरी नहीं है इसमें निशाचरी स्वभाव नहीं है ये धर्मात्मा है शास्त्र सम्मत आचरण करते हैं और ये समाज में बहुत बार लोग प्रश्न ये करते हैं कि अगर पुरुष अनैतिक हो अन्यायी हो धर्म विरुद्ध आचरण करता हो पापी व्यक्ति हो तो स्त्री को क्या करना चाहिए उस पुरुष को छोड़ देना चाहिए तो उसके साथ रहना चाहिए या उससे झगड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए ऐसे लोग पूछते हैं एक समस्या स्त्रियों भी सामने आ जाती है जब पुरुष <clears throat> इस प्रकार का व्यक्ति हो <clears throat> तो इसलिए क्या करना चाहिए वही करना चाहिए मंगल गरीब हम्म? अब बस बात आगे बंदोबरी की जो चरित्र चलता जाता है किसी प्रश्न का समाधान है अब किसी को बताना नहीं है उसके प्रश्न को अपने आप देख ले मंदोदरी ने क्या किया अब मंदोदरी चाहती है कि तो रावण सन्मार्ग पर आ जाए और ये विनाश लीला न होने का बच जाए सब हम्म? इस प्रकार जो सत्य कल्याण की बात सोचती है वहां रावण के भी कल्याण की बात सोचती उसका पति ही उसकी उसकी सोचती है अब ये जो मंदोदरी रावण को ऐसा नहीं है कि रावण से फिर डरती नहीं है डरती रहती है सो भी नहीं डरती ही नहीं लेकिन रावण से किस प्रकार का व्यवहार करती है वो कहती है से जोड़े कर पथ पर लागी राहस के माने एकांत स्थान अकेले वो मंदोदरी जानते रावण अहंकारी है वो सब बातों से पता है रावण अहंकारी है सबके सामने अगर रावण के सामने कहा जाए कि तुम जो है इस प्रकार का कार्य न करो सीता को वापस कर दो तो ये सुनने वाला नहीं है फिर तो वो अहंकार के कारण और भी गुस्सा होगा इसलिए अकेले राज के मैंने अकेले में वो समझाती है जिसे अकेले में हो सकता है वो मान लो तो रावण ये कहे अरे हम ही ने अपना विचार बदल दिया ये थोड़ी कहेगा उन लोगों से अगर मान लो रावण मान लेता है मंदोदरी की बात तो सब लोगों के सामने ये नहीं कहेगा कि मंदोदरी ने ऐसा कहा इसलिए हम ऐसा कर रहे वो ये कह सकता है कि मैंने अपना विचार बदल दिया और उसका अभिमान भी रह जाए इसलिए मंदोदरी उसको अकेले समझाती है और समझाती है तो देखो डांटती नहीं और लड़ती नहीं है विचित्र बात ये देखो यद्यपि मंदोदरी के मन का काम रावण नहीं करता लेकिन मंदोदरी की लड़की नहीं क्या करती है जोर कर पति पग लागी हाथ जोड़ती है और रावण के चरण पकड़ती है विनती करती है चरण पकड़ करके हाथ जोड़ करके रावण से विनती करती है मंदोदरी जानती है जैसे लड़ने से कोई फायदा नहीं कोई परिणाम निकलना नहीं है अगर मानना होगा तो विनती की भले ही मान जाए अहंकारी व्यक्ति से विनती करो हाथ जोड़ो तो भले ही कुछ मान जाए और उससे झगड़ा प्रसाद करके कोई मनवा नहीं सकता तो रावण को अहंकार और मोह का प्रतीक मान करके अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है और क्या करता है ये देखना हो तो रावण का प्रवृत्ति रावण जो करता है एक अहंकारी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और मंदोदरी ऐसे अहंकारी व्यक्ति से कैसे उसे <clears throat> व्यवहार करना चाहिए ये मंदोदरी बताती है कैसे बोलो उसके पैर पकड़ो हाथ जोड़ो बिंदु करो उसे कहते बोली बचन मित्र पागी और फिर वो रावण से इस प्रकार से नीति की बात कहती है नीत रस पड़ी हुई तो मैंने इसमें हर बात में नीति की बात है मैंने धर्म की बात इसमें तो अब देखो धर्म का भी नाम नहीं लेते यहाँ पर मंडोदरी या उसके साथ मंडोदरी जो कुछ कहती नीति बोल देती है <coughs> रावण नीत तो मान जाता है कभी लेकिन धर्म का तो बिल्कुल विरोध नहीं और नीति धर्म में थोड़ा अंतर है नीति जीवन जीने का सही विधान उन लोगों का है जो घोर उचित बड़े हैं और जिनको शरीर छोड़ने के बाद परलोक में भी कोई मान्यता जिनकी बुद्धि नहीं है कि पुनर्जन्म होगा और न जिनकी बुद्धि में परमात्मा जैसी कोई शक्ति वो भी मान्यता नहीं जो ये समझते हैं कि शरीर के उत्पन्न होने से ही उत्पन्न हुए शरीर को तो नष्ट हो जाए नष्ट हो जाएगा और ये सब प्राकृतिक इस प्रकार से चलता रहता है न कहीं ईश्वर है और न कहीं पुनर्जन है न कहीं जीव है ऐसे मानने वाले व्यक्ति जो है वो <clears throat> अगर सही जीवन को जीते हैं तो नीति जो बनता नीत के माने सामाजिक दुखान समाज में आपस में लोग बात किस प्रकार से रहें जिससे कि तालमेल सब व्यक्तियों में बना रहे उसका नाम नीति तो वहां न्याय की जरूरत पड़ती है नीति के साथ न्याय भी कहते हैं न्याय के मैंने अगर एक व्यक्ति चाहता है हमारी सुरक्षा बनी रहे कोई उनके पाते में हमारा धन छीने नहीं तो वो कहे कि भाई तुम्हारा धन तो कोई नहीं छीनेगा तुम्हें कोई लूटे पाते के लिए लेकिन तुम भी दूसरे को धन में छीनना में लूटना पाते तो हम भी नहीं करेंगे तब तो बन गई नहीं तो एक दूसरे को हम कोई किसी का धन रूपये पाते से नहीं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे ये भी क्यों क्या कि हमारा झगड़ा पैसा तो नहीं होगा तो बस यहां तक तो नीति है लेकिन जब <clears throat> जीवन के और कुछ सिद्धांत जो मान्यताएं हैं हम <clears throat> नियम जीवन के हैं उन पर जब जाते हैं तब ये भी लगता है कि जीव है जो पिछले शरीर को छोड़ करके जीवन में आया इस शरीर को छोड़ करके अपने शरीर जाना पड़ेगा और क्यों जाना पड़ेगा कर्मानुसार कम को उठना पड़ेगा केवल इतनी थोड़ी किसी जीवन में हमने आपस में तालमेल बनाकर के जी लिया अरे अगर हमने कोई अशुभ कर्म किया पाप कर्म किया किसी को हानि पहुंचाई तो दिया तो उसके कारण से फिर अगले शरण में जाकर शरीर में जाकर के फिर पतंग किया भी और कुछ होना पड़ेगा अधन योनिया प्राप्त करनी बनेंगे ये ये बात जब आती है धर्म की बात नीच इस पर विचार नहीं करता कि मेरे जीवन में क्या होगा धर्म विचार करता है कि मेरे जीवन में क्या होगा इसलिए कहते हैं ये है कि बोली वचन नीत रसता ब्राह्मण नीच मान सकता है इसलिए नीच की बात उसे कहती है धर्म की बात तो कहती कंत करत हरिशन परिहर और कहती है कंत करके मैंने पति कर को संबोधन करके कहती है उनको कि उनसे <coughs> भगवान राम को हरि इनसे तुम जो है झगड़ा के साथ छोड़ दो कर्ष के माने संघर्ष उनसे कर रहे विरोध कर रहे उनसे विरोध का त्याग कर दो और मोर कहा हम जो कुछ तुमको बता रहे बड़ी हित की बात है ये हो मन इस बात को हृदय में धारण करो हृदय में धारण करो जो पूरी मान्यता आपकी है उसको अपने मन से निकाल दो कि हम बता रहे हैं उसको चित्त में धारण करो यही सही बात है ऐसा करो अब देखो बोल इस प्रकार बोलने का अब अगर कोई व्यक्ति सावधानी अध्ययन करे तो मंदोदरी जो रावण से बताती है वो भी उन्हें शिक्षा देती है और फिर एक नाम का दूत है वो आगे चल करके देखेंगे वो भी समाचार लेकर के आता है कि राम वहाँ पर आ गए हैं उनके पास इतनी सेना है समुद्र के पार घर वो भी रावण को आकर के बताते हैं और वे इसी प्रकार की शिक्षा जैसे मंदोदरी देती है वैसे ही सुख भी शिक्षा देता है लेकिन सिख की शिक्षा में इतनी विनम्रता नहीं है जितनी मंदोदरी की बनती ये एक नौकर है नौकर जितने मार्ग से बताना है कि वो बताता है लेकिन ये जो है मंदोदरी जो है पत्नी है तो इसलिए किसका किसका समझाना बताना इसमें भाषा में अंतर है दोनों में ये साहित्यकारों ने रामचंद्र शुक्ल इत्यादि ने ये लिखा कि देखो जो साहित्य है वो भी व्यक्ति को सन्मार्ग दिखाता है लेकिन कैसे सन्मार्ग दिखाता है चाहे कविता हो चाहे उपन्यास हो चाहे लेख हो <clears throat> चाहे कहानियां हो वे भी लोगों को सन्मार्ग दिखाती है लेकिन कैसे दिखाती है जैसे कि पत्नी अपने पति को सन्मार्ग दिखाती है काम का सम्मत कर साहित्य में जो शिक्षा है वो काम का सम्मत शिक्षा है समता सम्मत शिक्षा के माने स्त्री शिक्षा भी देती है लेकिन उसके साथ साथ कर्कशता नहीं आने देती दूसरे लोग शिक्षा देंगे जैसे गुरु शिक्षा देगा तो डंडा भी दिखाओगे गुरु की शिक्षा दूसरे प्रकार स्वामी की शिक्षा हाँ, दूसरे प्रकार लेकिन उसकी जो है पत्नी की शिक्षा जो है वो दूसरे प्रकार तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये शिक्षा जब देती है उनको कहती है मोर कहा किसी लिए धरहू <clears throat> समझत जात दूत तय करनी तो देखो जिसके दूत की करनी के जैसे वो नगर के लोग सब बात कर रहे थे वही बात मंदिर राम से कह देती है कहते थे समझत जात दूत तय करनी जिसके दूत की करनी को समझने पर ध्यान देते क्या कैसा कार्य कर गया कि सरण ही गर्भ रजनी जो धरनी चले घर नगर भर की जो स्त्रियां हैं ये जो है निशाचर है ये सबके सर्वई गर्व मारे भय के उनके जो वो गर्व गिर जाते हैं ऐसे डर लगता है उनको देख करके उसके बानर को देख करके उनको या याद करके समझत के मन इनको भी देखा न हो उस बानर को सुना भर हो तो भी इतनी भयभीत हो जाती है ऐसा हो तो दूत उनका है तो पास मारे मुझे सचिव बुलाई उसकी मैंने उसके स्वामी की जो पत्नी है उसको ऐसा करो कि सीता जी को ऐसा करो कि अपना दूध अपने मंत्री को बुला करके उनके हाथ से भिजवा दो उनके पास ताश नार मेरे सचिव बुलाई पथरो तो जो चाहो भलाई ये तो अपनी भलाई चाहो तो अपने मंत्री को बुलाओ और सदो मंत्री से कि ले जाओ सीता जी को उनको दिया जाए अब ये नहीं कहती मंत्री गरीब कि सीता जी को जैसे तुम चुरा लाए हो वहां से ऐसे जाओ तुम जाओ जा करके वापस कर जाओ और क्षमा मांगो आगे चल करके देखेंगे बीवी से यही जाएगा तो मार लात उसको इसलिए बीवी जानती है हर व्यक्ति के साथ रहता जानता है कि कौन बात कितनी बात तक मानेगा कहाँ तक सुनेगा और कहाँ तक नहीं सुनेगा इसलिए <coughs> मंदोदरी जानती है कि रावण जी कहना ठीक नहीं है कि तुम सीता जी को लाए हो तो जाकर उनको दे आओ ये मान सकता है कि भाई अहंकार हमारा रह जाएगा बस आपने लेकर तो नहीं जाते दूध को दे दिया उनको मंत्री को दे दिया मंत्री ये सीता को लेकर के गया या फिर हम भगवान राम को दिया जो कुछ करेंगे सो करेंगे लौट कर चला आएगा अपने को जाकर के तो उनके सामने जितना नहीं पड़ेगा ऐसी युक्ति बताती हूँ तो पास नारे में सचे बुलाए पठल उठन की जो चाहो भलाई तब कुल कमल बितने दुखदायी सीता सीत में समा आई अभी कहते हैं देखो सीता तो तुम्हारे वंश का नाश करने के लिए आई अब उदाहरण कैसे देती है कितना सुंदर उदाहरण पहले देती है कभी देखो तुम्हारा कुल तो है कमल के समान हाँ? वैसे तुलसीदास तो विभाजन करते सूर्यवंश कमल के समान है लेकिन ये जो है उनको रही कहती है देखो तुम्हारा कुल तो कमल के समान है बहुत सुंदर तुम्हारा और ऐसे वंश के लिए विनाश करने के लिए सीता सीत निशा के समान मन जैसे शीतकाल में रात्रि आती तो कमल सब उनमें पाला पड़ जाता है और सब मुरझा जाते हैं सब सूख जाते हैं और ऐसे इसी प्रकार सीता और शीत मिलते ही शीत से हो गया सीता शीत के बने शीतलता जैसे सर्दी के दिनों में सर्दी आ जाए वैसे सीता आ गई तो ये जो आकर के ये सब तुम्हारा वंश जो वो नष्ट हो जाएगा कमल कुल तुम्हारा जो सब सबको मिला जाएगा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा इसके बताने के लिए ठीक निशा के समान सीता से बचो इसको वापस कर दो राम के पास ये जाए छुट्टी और झंझट कदम और शांति कराओ सब लोग निर्भय होकर के रहेंगे तो सुनो नाथ सीता दिन दीने फिर ये अब रामा तो कुछ अब इतना वो समझाती है ब्राह्मण ध्यान नहीं देता दूसरी तरफ मुंह घुमाए हुए उनकी मंदिरी की बातें सुनता रहता है बेमन फिर उसकी समझाती है तो सुनो नाथ सीता बिन दीने संबोधन हम इसी प्रकार से करते हे नाथ सीता जी को बिना दिए हुए हित न तुम्हारे संभोगी है कि तुम्हारा हित किसी प्रकार से भले ही ब्रह्मा जी और शंकर जी तुम्हारे जो तमाम वरदान तुमको दिया हो लेकिन तुमको बचा नहीं सकते माने पहले जानते हैं सब बालकानी चर्चा आई कि रावण ने कुंभकर्ण ने विभीषण ने तीनों ने खूब बहुत तपस्या की तपस्या की तो ब्रह्मा जी आ गए शंकर जी आ गए उन्होंने कहा तो मांगे वरदान तो इन्होंने वरदान मांगा सबने अपने अपने तो इन्होंने वरदान अपने कि कोई हमको मार न पावे तब ये लोग ये कहते थे कोई मार न पावे तुमको कुछ कैसे तरह मार पाने का तो अब वो ऐसे पूछते हैं तब वो कह देते हैं कि हमें कोई न मार पाए लेकिन कोई कंडीशन रखो एकदम से इस प्रकार से तो कोई आज तक हुआ नहीं कोई मरे नहीं लेकिन इसलिए बताओ तो उनका बस ये है कि मानव बानर और मनुष्य नर बानर ये लोग तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते चलो हम छोड़ देते हैं उनको छोड़ करके बाकी कोई हमको न मार पाए तो प्रभु देवता है एक शक्तिशाली है वो हम कोई भी न मार पाए इस बात का वरदान उसने मिल दिया <coughs> तो वरदान तो दे दिया ब्रह्मानंद दे दिया शंकर जी ने वरदान दे दिया लेकिन उसी बल पर ये अभिमानी ये संस्था मुझे कैसा तो ऐसा प्राप्त हो गया अब क्या होना हमारा अब क्या बिगड़ने वाला है हमारा अब कौन हमको मार सकता है जो उसने छोड़ दिया तो नर मानव के देखो तो वो तो जानता है कि हम लोगों के सब तो ये हमारे सब खाद्य पदार्थ हैं भोजन है ये सबके सब इनको तो वैसे हम खा जाएंगे उनसे कदर की बात है वो आगे चल करके कहता भी है इसलिए मंडोदरी समझाती कि तुम उनके भरोसे न रहो ब्रह्मांडा जी के ये सब जो जो परम परमात्मा है ये उन सबका भी स्वामी है उसके सामने इनका वरदान और उनकी सहायता तुम्हें कारगर नहीं होगी वही आ गया परम परमात्मा में परमात्मा इसलिए जिनके भरोसे के जिनके वरदान पर तुमने ये सब किया है वो अब तुम अब तुम्हारे वो बचा नहीं सकता तुम थोड़ी सी अंत में जब रावण कुछ बात नहीं सुनता है तो थोड़ी सी उसने कर्कश बात भी बोलती है तो रावण के लिए नहीं फिर भी थोड़ा बचा करके बोलती है कहते राम बाण अहिजन सरिस राम के भगवान राम के जो बाण है वो अहिजन सरिस सर्प जैसे फफड़ा दे निकलते उसमें से उसमें से जैसे सर्प का हुआ निकलता ऐसे बाण सर्प के समान और निकल निशाच